सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषा उदस्थाम् अमृताम् मनु सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों माता आप इस बात को सतत समण रखिए आवृत्ति करते रहिए कि उपदेश श्रवणे अपि कृत कृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत क्या समझ में आया हम्म। फिर से एक बार हम्म। एक बार तो ठीक होगा न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृतेता कृत्यता परामर्शादरीते विरोचनवत हाँ जी रणवीर जी कांका का सूत्र है ये दर्शन चौथे अध्याय सुखे स्वामी ठीक बोलो सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का सूत्र है कौन सी संख्या है संख्या हम्म? का पता नहीं स्वामी न नहीं न का अर्थ है हम्म। उपदेश श्रवणे अपि इसका क्या मतलब है उपदेश सुनने पर भी पर भी न उपदेश सर्वणे अपि कृत कृत्यता इसका क्या अर्थ है हम्म? अंतिम सफलता हाँ ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं होती कहाँ तक पहुंचे आप नहीं पूरे सूत्र को कहां तक लिया था न उपदेश सर्वणे अपि कितना अर्थ हो गया इसका सुनने पर भी उपदेश श्रवण सुनने पर भी कृत्यता ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति जीवन की अंतिम सफलता नहीं सिद्ध होती आ गया समझ में क्या आया उपदेश सुनने पर भी जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त नहीं होती है ईश्वर जीव प्रकृति भौतिक संसार तीनों के विषय में उपदेश सुनने से पढ़ने से पढ़ाने से लिखने से भी कृत्यता सफलता नहीं मिलती परामर्शाद रीति श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार के बिना परामर्शाद रीते परामर्श के किए बिना परामर्श का अच्छे प्रकार से सुनना फिर मनन करना फिर निधि ध्यान करना फिर आचरण के माध्यम से साक्षात्कार कर लेना माता जी आ गया समझ में जी सुनाई दिया कुछ कभी सुनाई देता कभी नहीं देता अच्छा। यही बाधा है मेरे कोई बात आ गया समझ में नहीं यार क्या आया उपदेश सुनने के बाद में हाँ। परामर्श करना चिंतन मनन करना ध्यान हम्म। करना और उसका आत्मा में साक्षात्कार करना हम्म। तब मोक्ष प्राप्ति होगी हाँ। एक दृष्टांत दिया विरोचनवत कौन थे वो जिसने ये उद्घोष किया था कि इस विद्या के ब्रह्म विद्या के आत्मा परमात्मा की विद्या के सुनने से व्यक्ति कृत हो जाता है प्रजापति था या कौन था है जी तो उस समय ये कथा जो सुनाई जाती है कि स्वार्थी लोगों के समुदाय में से तो विरोचन को निर्वाचित किया और देवों का जो समुदाय था उसमें से इंद्र को निर्वाचित किया कि इस विद्या के जाके सीखो है कुछ याद हुँ? हम्म? इस विद्या को प्राप्त करो और चले गए वो सब बातें विचार सुना दिए तो उन्होंने कहा बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो और इस आश्रम में रहो अनुशासन में रहो जो वहां के जो भी कुछ पठन पाठन था वो सब करते रहो वो करते रहे जैसे बत्तीस वर्ष के पश्चात उनको कहा अपना मुंह देखो इस पानी के कुंडे में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के देखो और फिर कहा कि आपको ये समझ में आया इसमें जो दिखता है ये क्या है क्या नहीं तो विरोचन के विचार हैं कि ये जो दिखता है मुंह दिखाई देता है शरीर का चेहरा ये दिखाई देता है हमने समझ लिया यही आत्मा है मैं समझ गया विरोचन ने ये कहा और इंद्र ने ये कहा कि मैं इसको नहीं समझ पाया ये तो नाशवान है ये शरीर ये आकार प्रकार ये आत्मा नहीं हो सकता ये मैं नहीं मानता तो विरोचन तो ये मान के चला गया कि अब अपने समुदाय में जाके कहा मैंने मान लिया जान लिया खाओ पियो मजे में रहो और दंड बैठक मारो जो कुछ यही सब कुछ अब इंद्र ने जब ये कहा कि मैं नहीं समझ पाया कि यही सब कुछ है यही आत्मा है यही कृत तो उन्होंने कहा कि 32 वर्ष तक फिर ब्रह्मचरी का पालन करो इंद्र ने 32 वर्ष तक फिर ब्रह्मचरी का पालन किया फिर आया समय तो फिर कहा गया कि अब अब समझ में आया उन्होंने कहा मुझे अब भी समझ में नहीं आया फिर कहा कि बत्तीस वर्ष तक और ब्रह्मचरी का पालन करो तीन बत्तीस कितने हो गए हाँ जी तीन बत्तीस छियानवे हो गए स्वामी जी फिर कहा कि अब उन्होंने कहा मुझे अब भी समझ में नहीं आया तो पांच वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करो कितने हो गए एक सौ एक वर्ष लगाए ब्रह्मचर्य के पालन से वही बात ली जाएंगी ईश्वर की उपासना करना ब्रह्म वेद विद्या को पढ़ना मन इंद्रियों को जीतना तीनों ही का पालन ब्रह्मचर्य पालन है तो इतने दिनों में विद्या आ गई जब एक बुद्धिमान व्यक्ति था बड़ा ऊंचा दिमाग था जिसका क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में उसी को भेजते हैं जो सबसे बुद्धिमान हो और इतने वर्ष उन्हें फेर लगाए फिर ये बात समझ में आ गई क्या आत्मा परमात्मा की विद्या योग विद्या और आप यहाँ दरवाजा बंद करना बताते हैं दूसरे दिन खुला मिलता है आज भी खुला था और ऐसे आप क्या इस कार्य को करोगे आप कैसे उतारोगे धरती पर इसको नहीं समझ में आया तो इतने स्तर पर जब आप रहेंगे तो आत्मा परमात्मा की विद्या योग विद्या को कैसे समझ जाएंगे आप और यदि आप नहीं मानते नहीं जानते तो सब कुछ पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने लिखने लिखाने के पश्चात भी आप कलेशों में दुखों में डूब करके गोते लगाते रहोगे चिल्लाते रहोगे और हो सकता है आप ये कहीं ये कहीं सुनी बातें हैं वेदों की दर्शनों की बातें हैं है हुआ कुछ नहीं कहने की बातें हैं समाधि मिलती है आनंद आता है परमात्मा का साथ ये कहने की बातें हैं कोई इनमें है सार नहीं है आप ऐसा भी कर सकते कारण आपने श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया बिना प्रयोग के विद्या नहीं आती जब प्रयोग करते हैं तो अविद्या का नाश होता है और विद्या का स्वरूप सामने आ जाता है जब प्रयोग नहीं करते तो अविद्या ज्यो की तो बनी रहती है अटती नहीं तो अविद्या फिर व्यक्ति को प्रभावित करके अधर्माचरण करवाती है ऐसा निश्चित है निश्चित बात है दिव्य विद्या का स्वरूप सामने आएगा तो विद्या नष्ट होगी यदि विद्या यदि विशुद्ध रूप में आती है अविद्या जीव की तो बनी रहेगी विद्वान होने पर भी शब्द शास्त्र का और वो अविद्या उसको अधर्माचरण में ले जाएगी उल्टी उपासना करवाएगी उल्टे उल्टे काम वो व्यक्ति पढ़ने पर भी करता रहेगा इसलिए आपने सुना मनुस्मृति के श्लोक या निरुक्त के श्लोक की विद्या है ब्राह्मण आजगा में शिव धिष्ट रक्षय माम विद्या ब्राह्मण के पास में गई और कहने लगी मैं तेरा खजाना हूं मेरी रक्षा कर अजितेंद्रिय जो हो ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो जिसका आचरण ठीक न हो ऐसे आचरणहीन व्यक्ति को मुझे मत दे देना मैं बलहीन हो जाऊंगी कलंकित हो जाऊंगी के दिमाग में वही बात काम करती है अपना जो निर्णय है वो सर्वोपरि और वेद ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव ऋषि कृत ग्रंथ और हम जो उपदेश दे वो वो सब नीचे और आपकी बात ऊपर बस इसलिए उसको आचरण में नहीं लाते आप अब तो कल के प्रकरण को उपस्थित करते हैं कि कल जो चर्चा चल रही थी वह थी हमारे चित्त की पांच अवस्थाएं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच अवस्थाएं क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति किन किन स्थितियों में स्वयं रहता सोचता है आपने सुना है कि क्षिप्त अवस्था में जब तीव्र गति उद्वेग होता है विचारों का तो व्यक्ति उल्टे काम करने में जुट जाता है जब वो मंद गति से रहती है उग्रता नहीं होती तब व्यक्ति बाहर आचरण में तो उसको एकदम नहीं उतारता मानसिक स्थिति में वो उभता उठता उछलता कूदता गिरता उठता चलता रहता है विचारधाराओं विचारधाराओं में उठता गिरता रहता है समझ में आया हाँ बोलिए क्या समझ में आया मानसिक स्तर में व्यक्ति उठता गिरता रहता है मूड अवस्थाओं की जो बातें हैं जिसमें उल्टा दिखता है या कुछ भी समझ में नहीं आता ऐसी भिन्न भिन्न अवस्थाएं जो मूड अवस्था की होती फिर विक्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति प्रयत्न करता है कुछ सत्वगुण प्रधान स्थिति में आता है रजोगुण वहां साथ जुटा हुआ रहता है तो स्थिति बनती है एकाग्रता की फिर वो भंग हो जाती है फिर बनती है फिर भंग हो जाती है आगे एकाग्रता जब व्यक्ति को विवेक होता है विशेष विवेक होता है और उससे अपर वैराग्य होता है आपको कभी अपर वैराग्य दिखाई देता है साधक जी आप भी बताओ अपर वैराग्य कहीं आता है हाथ लगता है नहीं लगता, है। तो फिर वो लगता है तो वो तत्काल हट जाता है या कुछ जमता है आप बताओ अपना हम्म? दो ढाई तीन दिन तक प्रभाव रहता है स्वामी हम्म, हम्म। इसके बाद हट जाता है वैराग्य हटता क्यों है कभी आपने ध्यान दिया हो जी विवेक मंद पड़ जाता है विवेक तो वैराग्य हटता है जब अभ्यास मंद पड़ जाता है तो वैराग्य हट जाता है क्या समझ में विवेक और अभ्यास के मंद होने पर वैराग्य हट जाता है जल्दी इसलिए उसको सतत विवेक और वैराग्य को उभारते रहना पड़ता है सतत विवेक और वैराग्य को उभारते रहना पड़ता है सतत व्यवहार में विवेक वैराग्य को उभारते रहना पड़ता है जिस समय उसको ये विवेक है कि ये शरीर है बड़ा सुंदर दिखता है उस समय विवेक है कि मलमूत्र से भरा हुआ है विवेक है और इसका फिर अभ्यास रखता है उसको गिरने नहीं देता हाँ ये मलमूत्र से ही भरा हुआ है वो फिर दौड़ आता रहता उसको हाँ ये ऐसा ही है तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो वैराग्य बना रहेगा जब ये सतत है उसको विवेक नहीं रहेगा कि इसमें मलमूत्र है विवेक हटते ही वैराग्य समाप्त हो जाएगा और इस मलमूत्र से भरे शरीर में वो अभ्यास कर रहा है कि हाँ ये मलमूत्र से भरा ये मलमूत्र से भरा ये ऐसे ही दोहरा रहा है वो तो वो अभ्यास करता रहेगा रोकने का आकर्षण उसका रुकता रहेगा रुकता रहेगा तो ये स्थिति रहने पर फिर वैरागी रहेगा यदि ये स्थिति हटेगी तो वैराग्य नहीं रहेगा तो वैराग्य नहीं रहेगा तो विक्षिप्त विक्षिप्त अवस्था आ जाएगी माता जी समझ में आ रहा है विक्षिप्त अवस्था आ जाएगी विक्षिप्त अवस्था आते ही जब एकाग्रता होगी तो अच्छी स्थिति दिखेगी जब स्थिति गिरेगी तो उल्टा दिखने लगेगा विषय भोगों में सुख है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा की पूर्ति अच्छी लगेगी ये धाराएं चलेंगी आप कभी देख सकते हैं कि जब व्यक्ति को ये पता रहता है दिमाग में ये शरीर नाशवान विश्व नाशवान वो अच्छी तरह बुद्धि में आरूढ़ होगा उस समय विषय भोगों में रुचि नहीं होगी क्या समझ में आया जिस समय शरीर की अनित्यता पर विचार होता है निश्चयात्मक उस समय विषय भोगों में स्वतः रुचि नहीं होती नहीं होगी काम करो तो लोग वो नहीं उभरेंगे और जब ये अनित्य दिखना बंद हो जाएगा तभी विषय भोगों में रुचि काम करो तो मोह हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे और रगड़ डालेंगे इसलिए उसको सतत ये देखना पड़ता है ये नाशवान है ये नाशवान है भोग्य पदार्थ और भोक्ता शरीर दोनों नाशवान जब दोनों को नाशवान देखता है तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती दोनों को ही नाशवान देखते रहना पड़ता है सतत फिर वो दर्शनकार क्या कहता है ईशुकार वत न एक चित्तस्य समाधि हानि ये कहता है क्या समझ में आया क्या समझ में आया हाँ जी बोलिए बाण चला, चलाने वाले व्यक्ति के समान हम्म। सावधानी पूर्वक उस अपने उद्देश्य को देखते रहना चाहिए हम्म। तभी उसमें सफल हो पाएगा वो समाधि अवस्था को बनाया रखने के लिए व्यक्ति को तीरंदाज अथवा विशेष सूक्ष्म वैज्ञानिक निर्माण किसी चीज में लगे हुए की तरह सतत सावधान रहना चाहिए समाधि निर्भंग होगी ईशु कारवत ईशु को बनाने वाला अथवा ईशु को चलाने वाला उसकी तरह सावधान जब रहेगा तो समाधि भंग नहीं होगी नहीं तो समाधि भंग होगी अब क्या समझ में आया हुँ? हम्म? हाँ जी क्या समझ में आया के समान हम्म। सतत अपने को सावधान न रखे तो उसकी समाधि भंग हो सकती है अब ये सावधानी क्या है जो अनित्य पदार्थ है उसको अनित्य ही मान के चल रहा है वो और नित्य को नित्य असूचि को असूचि सूची को सूची दुख को दुख सुख को सुख आत्मा को आत्मा अनात्मा को अनात्मा इनको ज्यो का तो सतत देख रहा है जब सतत देखता रहेगा तो समाधि बनी रहेगी जब सतत ये दिखाई नहीं देंगी चारों बातें तो समाधि भंग हो जाएगी आपको क्या समझ में आया तो समझ तो अच्छा चलो समझ में आ जाना चाहिए ये सब मन को कैसे रोका जाता है कैसे एकाग्र करते हैं क्या क्या उसमें उल्टी उल्टी जो घटनाएं घटती है जो व्यक्ति को अस्थिर बना देती है उनसे कैसे बचा जा सकता है हम आगे बढ़ते हैं आप यहां पर आए एकाग्रता संप्रज्ञा समाधि की स्थिति में आई आप आए और अब ये चित्त की एकाग्र अवस्था है इसमें एक विषय है जीवात्मा को ले लो हम ये चाहते हैं जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है इसको जानना है आया समझो नहीं आया नहीं अन्य सभी विषयों से मन को रोक देना अन्य विषय नहीं बनाने क्या समझ में आया अन्य सभी विषयों से मन को रोक देना है और एक विषय रहेगा अब आप देखेंगे शरीर इंद्रिया मन जीवात्मा पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश आदि जो एक एक विषय बनाते हैं हम संप्रज्ञात उसने अंतिम जीवात्मा पर आ गया और जीवात्मा में एकाग्रता की फिर उसने ये देखा ये भी एक सत्वगुण प्रधान स्थिति है जिसमें मैं हूं ये भी दोष युक्त है ये अनुभव किया तो इससे तत्परम पुरुष से गुण वही तर्शन्यम गुण मात्र से प्रकृति सत्वर तम मात्र से पहले स्थूल पदार्थों से वैराग्य था अब आंतरिक जो सत्व गुण है उससे भी वैराग्य हो गया अपर वैराग्य हट गया विवेक ख्याति रुक गई चित्त का क्षेत्र समाप्त हुआ अब असंप्रज्ञा समाधि आ गई अब चित्त की जो वृत्तियां काम कर रही थी प्रधान रूप से वो रुक गई अब जीवात्मा का ईश्वर से सीधा संबंध हो गया समझ में आ गया हुँ? हम्म? क्या नहीं आया सीधा ईश्वर से ईश्वर से संबंध हो गया चित्त के वृत्तियां यहाँ पर समाप्त हो गई अब इस अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार वा होता है और उससे आनंद की प्राप्ति और कलेशों की निवृत्ति होती है अब आप करना चाहें तो कर सकते हैं इतना पढ़ने पढ़ाने के पश्चात और न करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे एक ही बात क्या समझ में आया आप इस स्थिति को प्राप्त करना चाहें तो कर सकते और नहीं करना चाहेंगे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह स्थिति नहीं मिलेगी हो सकता है आपके मन में ऐसी बात बैठ गई हो संदेह हो कि कहने की तो बात है पर ये जचती नहीं कि ये स्थिति प्राप्त व्यक्ति को होती है आपको है किसी के मन में या होती है या नहीं बोलो अपनी आप, आप बोलो। ये शत प्रतिशत जचती है आपको ऊंचा बोलो हाँ जी आप बोलो आप बोलो अपना बताओ साधक जी बोलो या समाधि को प्राप्त कर सकते हैं जस्ती बात नहीं फिर एप, एप, अगल, आ, इस पर कर लेंगे तो अगली भी मिलेगी फिर तो संप्रजात से आगे और को नहीं नहीं संप्रजात में आ गई समझ में ऐसा बोला संप्रजात तक पहुंचा दिया ना अच्छा ठीक है आ गई समझ में अब ये बात निश्चित रूपेण व्यक्ति के मन में जच जाए तो इसके लिए जो कुछ करना है वो करेगा ही और जो छोड़ना है उसको छोड़ेगा बस दो ही बात उसके दिमाग में जो करना चाहिए इसके लिए उसके लिए वो कुछ भी क्यों न हो उसको करके ही रहेगा उसको नहीं छोड़ेगा और जो बाधक है उसको छोड़ के ही रहेगा हाँ जी एक बात नहीं जैसे स्वामी जी एक बात नहीं दसती है कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके भी ईश्वर साक्षात्कार करके भी मुक्ति को नहीं पा सकता है हाँ। बीज न होने पर सब क्लेशों के इसलिए करने के पश्चात ईश्वर साक्षात्कार कर लेने के पश्चात बहुत लंबे काल तक उसको अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना पड़ता है और वो समाधि भंग होती रहती है फिर भंग होती है तो संप्रज्ञात हो जाती है फिर कभी भी कहीं संप्रज्ञात भी नहीं रहती फिर लगाता है फिर होती है वो इतने लंबे काल तक अभ्यास करते करते करते करते दग्ध बीज भाव अवस्था बिल्कुल नितान और ईश्वर के नियम है इतनी स्थिति आने पर ही साक्षात्कार होने पर भी तब शरीर छोड़ने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त हो पाएगा एकदम नहीं होता कोई ये मानता हो असंप्रज्ञा समाधि बहस हो गया ये बिना जाने बुझे बिना सोचे बेचारी बात होती है ये व्यक्ति वो कहते हैं जो नहीं जानते इन विषयों आपने ये भी सुना होगा प्रमाण ले लो वित्थान निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भाव निरोध अक्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है, है किसी को याद या नहीं हम्म? क्या अर्थ है सूत्र का और निरोध के संस्कार परस्पर दबते रहते हैं और उभरते रहते हैं हाँ। तो क्या होता है फिर जब निरोध के संस्कार से युक्त होता है व्यक्ति तो उस समय ईश्वर का साक्षकार होता है और और उसके संस्कार दब जाते हैं आ? हाँ। और उत्थान के संस्कार उभर आते हैं आ? हाँ। तो वो स्थिति हो छुट जाती है ईश्वर का साक्षात्कार तो ये मुक्ति कहाँ हुई उसकी इससे सिद्ध नहीं होता क्या क्या समझ में आया निराश समझ जब निरोध के संस्कार उभरते तो प्रजात जब गिरते हैं संस्कार सांसारिक आते फिर फिर नीचे की स्थिति में आता तो मोक्ष हो जाता तो दोबारा क्यों आता वो क्या समझ में आया नहीं आ रहा समझ में इतनी मोटी बुद्धि है क्या <laughs> क्या समझ माया है हाँ जी बोलो संदीप जी क्या सिद्ध हुआ उससे तो बार बार वो भंग होगी बार बार फेर लगाएंगे कितना लंबा लगेगा ये अलग बात है न काल नेमो वामदेववत ये अलग बात है और वर्षों तक ये अभ्यास करते रहने से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है हाँ जिस समय असंप्रजात होगी आनंद का अनुभव और क्लेशों की निवृत्ति जीवन मुक्त की स्थिति दिखेगी भंग होने पर फिर उसमें दोष आने लगे स्वामी जी ऐसा भी हो सकता है कि असंप्रजात जोर से बोलो ऐसा भी हो सकता है कि असंप्रजात समाधि लग जाए फिर एक दो साल तक ना लगे फिर दो साल बाद लगे ऐसे ऐसे तो नहीं होता वो तो बहुत है यदि इतना नीचे मान लो व्यक्ति गिर भी जाए तो बहुत लुट पिट जाएगा इतने दिनों में दो बार पता नहीं लगे या ना लगे <laughs> और जिसको लग गई कल्पना की वो बीच में क्यों छोड़ेगा परिस्थिति छोड़ना पड़ जाए परिस्थिति संसार की उसने सब देख डाली कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसके दिमाग में न आई हो उसकी जब असम प्रजात में जाता है जब सारी संसार की स्थितियों को देख लेता है कोई स्थिति उससे वो जल नहीं है कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अनुमान और कहीं शब्द प्रमाण सारी स्थिति ढूंढ डाली उसने तब असंप्रज्ञात में गया है वो स्वामी जी कोई व्याधि आदि का व्यवधान वही मैं बता रहा हूँ व्याधि आदि भी आएंगी और उसमें भंग हो जाएगी तो फिर जब वो फिर वही करेगा व्याधि कमजोर होगी तब करेगा और व्याधि बिल्कुल बाधित कर दे तो अलग विषय ऐसा बाधित कर दे वो लगने नहीं दे ये तो स्थिति ठीक है भाई बिना शरीर के तो समाधि भंग होगी आपका मतलब है लगातार भयंकर व्याधि चले तो समाधि को नहीं लगने देगी वो पर उसकी इच्छा और प्रयत्न तो बने रहेंगे और एक सीमा तक वो समाधि को फिर लगाने का प्रयास करेगा और जिस रोग की क्षमता जब कम होगी तो फिर वहां जाना चाहेगा वो उसी स्थिति हाँ जी रोज रोज लगाना पड़ता है हाँ जी रोज समाधि लगा जाता है हाँ सुनो अब रात्रि को जब सोएगा तो समाधि नहीं रहेगी तो उठते ही समाधि फेर लगाई या नहीं लगाई क्या समझ में आया रोज सोता है और उठ करके समाधि लगाता है रोज लगी या नहीं लगी एक बात दूसरी स्थिति एक व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है वो दिन भर समाधि में रहता हो वो प्रातः सायकाल तो समाधि में पहुंच जाता है समझे और दिन में जब पढ़ता है पढ़ाता है दूसरे कार्य करता तो फिर वो समाधि को नहीं रख पाता एक व्यक्ति की स्थिति यह होती है वहां भंग होती रहती है बीच बीच में भंग होती रहती है भंग होती रहती है तो फिर इसी व्यक्ति की परिपक्व अवस्था आएगी तो ये फिर दिन भर समाधि में रह सकता है जब सोएगा जब नहीं रहेगी ये सारा स्थिति ऐसी आई समझ में आगे सबको अब आप देखेंगे अब इस व्यक्ति ने क्या किया अब वो ये कहता है मैं न ईश्वर में समाधि लगाऊंगा न अपने में लगाऊंगा अब मैंने सब विषयों से रोकना है ये है नितांत विषयों से रोक देने की स्थिति कल वाली बात थी ना ये वो है शंका ये थी वो अपने ज्ञान को रोक देता है ज्ञान को रोक देने का अर्थ एक ये होता है अपना ज्ञान विज्ञान लुप्त कर दिया जैसे रहा ना हो ज्ञान एक स्थिति अथवा इनमें से किसी भी विषय के बनाने वाले ज्ञान को रोक देता है ज्ञान उसका जो का त्यों क्या समझ में आया अब शंका कुछ दूर हुई आपकी ज्ञान को रोकने के दो अर्थ होते हैं कोई ज्ञान विज्ञान न रहे ऐसा रोक देना एक जिन जिन विषयों में वो समाधि लगाता है उन उन विषयों को सबसे रोक देना बिना समाधि के ये था मतलब ज्ञान को रोकने का तात्पर्य अर्थात जिन विषयों को उसने अपने ज्ञान विज्ञान से विचारना था सोचना था उन सबसे रोक दिया कुछ समझ में आया और ये ज्ञान रहता है कि मैंने सब विषयों से रोक दिया ये ज्ञान रहेगा अब क्या समझ में आया सदा जाता हम्म? सदा जाता हम्म। सूत्र अपना आया चौथे को हाँ हाँ जीवात्मा सदा ज्ञात रखता है सदा ज्ञान सदा ज्ञान रहता है सदा ज्ञाता तदवृत्तय तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामी बात तो आपको समझ में आई बात तो वहां पर ये स्थिति बनाता है व्यक्ति कि अब मैं अपने इनमें से किसी विषय को भी अपनी जान का विषय नहीं बनाऊंगा ऐसे रोक देता और ये ज्ञान रहता है कि मैंने सब ईश्वर से रोक रखा इस ज्ञान से खाली क्योंकि वो जाता है उसमें और उसमें रोक भी रखा है अच्छा देखो अब मैं रोकता हूं जैसे मैंने रोक दिया अब मैं किसी को विषय नहीं बना रहा हूं अत्यंत सावधान ये नितांत रोकने की स्थिति है कभी कभी व्यक्ति आंख बंद के रोकता करता है रोकता तो इसकी अपेक्षा ये आंख बंद करके रोकना सरल है और आंख खोल के रोकना उससे कुछ कठिन है अब मुझे अनुभूतियां सतत हैं कि अब मैं किसी भी विषय को अपने ज्ञान का विषय नहीं बना रहा हूं रोक दिया नहीं विचारना समझ में आया नहीं आया बोलिए है जी जब ऐसी स्थिति बनती है तब वो जानबूझ कर फिर दूसरे विचार लाता है या अपने आप वो टूट दो धाराएं एक विषय में लगा देना सरल है क्या समझ क्षिप्त मूड और विक्षिप्त और एकागर विक्षिप्त में भी एक विषय में लगाता है व्यक्ति फिर भंग हो जाता है और संप्रज्ञात में एक विषय में लगाता है एक विषय में लगा देना सरल है और उससे भी रोक देना सबसे रोक देना ये कठिन है नया व्यक्ति जो इसका अभ्यास करेगा तो गलासा घुटेगा उसका आप करके देख लो कोई विषय न बनाओ अब कोई न कोई विषय उठेगा आप उसको रोकेंगे उठेगा आप उसको रोकेंगे उठेगा वो आप उसको बिल्कुल रोकेंगे तो ऐसे कुप्पे की तरह गुब्बारे की तरह विचार <laughs> उथल पुथल होने लगेंगे नए व्यक्ति और जिसका अभ्यास हो गया बार बार प्रयोग किए उसको कोई कठिनाई नहीं होती अब मैं नहीं सोचता किसी के विषय नहीं बनाता कोई विषय नहीं बनता रोक दिया सबसे अब क्या करें अब जिसको विषय बनाना चाहते उसमें चलाओ चाहे जिसमें नहीं इसका मतलब ये है ये पता चल गया कि हम नितांत रोक करके और आ, अपना अभीष्ट मुख्य लक्ष्य में लगा सकते हैं और बुराई से नितांत रोक सकते हैं ये इससे साहस हो गया वीरता आ गई चाहे जो मन घसीट के ले जाए ये नहीं हो सकता इस अवस्था में आप सांस भी रोक देते ये पहले पहले जो मेरे लिए तो सांस की समस्या नहीं है पर जो पहले पहले रोकेगा उसको सांस को भी बड़ा रोक रोक के लेना पड़ता है क्या समझ में आया प्राणायाम करना पड़ता है तो वो स्तंभ वृत्ति जैसा होता है ना प्राणायाम करो या तो या स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जैसी स्थिति बनाओ सांस को भी बड़ा सावधानी से लेना पड़ता है नए व्यक्ति को स्तंभ वृत्ति जिसको बोलते हैं ना अवस्था अपने आप बन जाती है हाँ वो को करनी पड़ जाती है जैसे निशाना मारने वाला निशाना मार ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि